सहसा राजा जो है विचार कर रहे थे दुखी हो रहे थे कि आज जीवन में हमसे बड़ा अपराध हुआ उसी समय वो शनि मुनि का शिष्य यहां पहुंच गया राजा ने उनका स्वागत किया महाराज कैसे पधारे उन्होंने कहा कि भाई देखो आपको इस किस तरह से साप मिल गया तक्षता तो मृत्यु सुखता साधु मिले परीक्षित ने जब ये सुना कि तक्षक के काटने से मेरी मृत्यु होगी तो इसको उन्होंने अच्छा समझा परीक्षित ने तो क्या क्या था समझाने की अगर वैसे तो हमको वैराग्य होता नहीं तो चलो इस साप को सुन के ये संसार के वैराग्य तो होगा तो राजा जो है भगवत चरण निर्गताया गंगायाम प्राय हुए उन्होंने अपने पुत्र आदि पुत्र राजपाठ करके और गंगा किनारे आकर के बैठ गए या वही लखी तुलसी विलुष्यो कृष्णांगणोद्यधिकाम्बुनेत्री गुणापि लोकान्वयत्र शेषान् कस्तान्न सेवे कमर्जुनाः जो संग शिशु शोभायमान तुलसी आदित्य से युक्त भगवान के चरणों की रज को वहन करने वाली श्री गंगा महारानी वो वो ऐसा मरने वाला कौन प्राणी है जो उनका सेवन करे गुणात लोकान भय सभी लोगों को भी पवित्र करती है शेषान बड़े बड़े देवताओं को भी पवित्र करती है बस गंगा किनारे जाकर के बैठ गए भगवान का ध्यान भजन करने लगे उसने कर लिया अब हम बस यही इसी प्रकार से केवल संध्या बंधन करते समय केवल आचमन का जल पेट में जाएगा और जल भी हम नहीं पिए ये बात एक साथ सारे देश में और सभी ऋषि महर्षि आशा के ध्यान करते हुए परीक्षित जहां बैठे हैं समानता सर्वतैव सर्वे चारों ओर से ऋषि महर्षि आकर के वहां करते हुए उसने तो चमत्कार खान के पूछा मालूम कैसे महाराजा परिजय ये सुना किस तरह से सारे देश में ये चर्चा फैल गई और बड़े बड़े ऋषि वहां पर के इकट्ठे तत्रोपजग्नो भुवनम पुराना महानुभावा मनुष्य शिष्य संसार को पवित्र करने वाले बड़े बड़े ऋषि महर्षि वहां आकर के इकट्ठे हुए पत्री चलन वशिष्ठ रघु अंगिरा पराशर विश्वामित्र परशुराम ये देवल भरद्वाज गौतम पिप्पल पिपला व्यास नारद और ऋषि महर्षि वाले चेतान सर्वान पूजे सब ऋषियों का पूजन किया महाराज परीक्षित ने सब लोग जब बैठ गए शांति से तो आप देव करके बोला अवयम भगवती अनुष्ठी महाराज आप लोगों ने मैं तो जीवन भर में इतने महापुरुषों का दर्शन नहीं कर पा रहा और ये ब्राह्मणों ने साफ हमको क्या दिया इसे मेरे मेरे ऊपर अनुग्रह किया मैं घर गृहस्थ में जो आसक्त था हमको कब वैराग्य होता ये तो वैराग्य का कारण बन गया यशमें सापे सती विरक्त राजा हो तो इस तरह से माता ने जब अपना निश्चय सुनाया एवं राज्ञी प्राय दृष्टि सती देवा कुछ दृष्टि कर महाराजा परीक्षण ने जब ये निश्चय कर लिया तो सात दिन तक हम निर्जल व्रत करके इसी तरह गंगा किनारे रहेंगे ये निश्चय जब सुना तो देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की डुंडुनियां बदले और जितने ऋषि महर्षि थे सबने यही उसी समय सबने यही संकल्प ले लिया कि जब तक महाराजा अपने पांच भौतिक शरीर को छोड़ करके मुक्त हो जाएंगे तब तक हम लोग भी इसी तरह से इनके पास न बैठे असल राजा देहन त्यक्ता विश्वकम परलोकम यावत न याद जब तक महाराजा परीक्षित अपने पांच भौतिक शरीर को छोड़ करके हाँ और जब तक इनके ये मुक्त न हो जाएंगे परलोक को न चले जाएंगे इनकी ज्योति भगवान की ज्योति में जब तक नहीं मिल जाएगी तारक वयम सर्वे यह स्थाप्या हम लोग भी बस उसी तरह से बैठे गए खाएंगे पिएंगे नहीं कुछ परीक्षित ने ये बात सुन करके तो उनको और बड़ा साहस हुआ बड़ी प्रसन्नता हुई और फिर महाराजा परीक्षित कहने लगे महाराजा ये तो बताओ क्या सात दिन केवल बाकी हैं अब हमको क्या करना चाहिए ब्राह्मण बोले को तो क्या कोई कुछ कहने लगा कोई कुछ कहने लगा जीवन सर्वे अत्रागता उष्माकम यह परस्परा अनारोग्यम अर्थ नास्ती अतो वा एवं पृष्टव्यम पृथ्वी विप्रा यूयम एक मत है हमारे सामने विवाद नहीं होना चाहिए आप सब एक नतीजे एक साथ निश्चय करके बताओ तो हमको क्या करना चाहिए तो ब्राह्मणों का एक सिद्धांत कहां होगा कोई कहना राजन पर एक बड़ा भारी यज्ञ करना है कोई कहना चाहिए योगाभ्यास करना चाहिए कोई कहना चाहिए दान करना चाहिए <coughs> ऐसे आप अपनी विवाद में उसी समय भगवान जी ने स्वयं सुखदेव जी का उद्धारण करके भगवान स्वयं भगत यदृक्षयागाम पर्यटन स्त्री बाला हम्म, बाले व्रतो अवधूत वेशो निजलावपुष्टो व्यास सत्रा भगवान व्यासपुत्रो अलक्ष लिंगो निजलावपुष्टो व्रत व्रतस्त्रिवाणी रवभूतवेषा स्त्री और बच्चों से घिरे हुए सुखदेवी वहां पर तो वैसे महाभारत की दृष्टि से महाराज को पढ़ने की जाता है कि भगवान सुखदेव उस समय नहीं उसके पहले ही वो लीला समाप्त कर चुके सुखदेव जी थे ही नहीं आप से गए तो इसलिए कहा तत्राभवत भगवान व्यास को व्यास सुखदेव जी के रूप में स्वयं भगवान ही प्रकट हो गए राजा का कल्याण का तमृष्ट दर्शन सुकुमार पालो करोड़ बाहुवन सतपूर्ण राष्ट्रम वो सोलह वर्ष की अवस्था मालूम होती है उनके सब हस्तपादाधिक अत्यंत कोमल थे बड़े बड़े उनके नेत्र थे उन्हें बड़ी सुंदर थी शंख के समान उनकी गिरीवा थी श्रेष्ठ प्रकार सुखदेव जी अकस्मात वहां भ्रमण करते हुए प्रकट हुए उनको देख करके सब के सब विष्णु साक्षी उठ करके प्रकट हुए बोलिए सुखदेव प्रशांत मासी नमकुंठ में दसम शांत होकर के सुखदेव जी भगवान जब बैठ गए राजा ने कहा ये तो कोई महापुरुष मेरा मेरे कल्याण के लिए बता रहे हैं जहां इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि जिनको देख करके उसके खड़े हो गए ये तो कोई बड़े महापुरुष हैं बहुत राजा ने जाकर के प्रणाम किया प्रणाम में ना मूदना भरतक जलित उनके चरणों में सिर रख दिया हाथ जोड़ करके खड़ा और बड़ी नम्रता से उन्होंने कहा महाराज में कृतकृत्य हुए आपका तो स्मरण करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है आपका दर्शन करने से पवित्र हो जाए इसमें तो कहना ही क्या आपकी सन्निधि मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते जैसे भगवान विष्णु की सन्निधि से दैत्य नष्ट हो जाते पांडवाना प्रिय कृष्ण भगवान श्री कृष्ण पांडवों के बड़े प्रिय हैं देवता हैं उनके उन्होंने अपने गोत्र में पांडवों के गोत्र में उत्पन्न हुआ जो मैं हूं इसलिए भगवान ने स्वयं कृपा करके आपको भेजा है अन्यथा आपका दर्शन हमको कहां मिलने वाला न तब दर्शनम कथम से आप मैं आपका दर्शन कैसे कर सकता हूं आप तो बड़े बड़े योगियों के भी गुरु और आप ये बताइए कि मृत्यु जिसके समीप में है तो क्या कारण है अतः प्रक्षाम संसिद्धि योगिनाम परमनुभुम पुरुष से कार्य म्रियमाण से सर्वथा उसको क्या करना चाहिए परीक्षित ने चार बात पूछी महाराज मैं मोक्ष का स्वरूप जानना चाहता हूं मोक्ष किसको कहते हैं और उसका साधन क्या है और मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए और मृत्यु जिसके समीप में है उसको क्या करना चाहिए ये चार बात पूछी अतः श्रद्धा में संसिद्धि योगिनाम परम गुरु पुरुष से यम म्रियमाण सर्वथा यथ्योतव्यम यज्ञम यत्कर्तव्यम निधि निर्प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम बा गुरु यदवा उपजयम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये उन्होंने प्रश्न किया पहला समाप्त समाप्त हुआ मेरी श्री कृष्ण भगवान सुखदेव जी राजा का प्रश्न सुनकर के ही प्रसन्न हो गए वरियानेश थे प्रश्न राजा ने तुम्हारा प्रश्न ही बड़ा सुंदर ये तो प्रश्न तुमने संसार के हित के लिए काफी आया अपने ही हित के लिए तो विवेकी लोग ऐसे प्रश्नों का बड़ा आदर करते हैं राजन घर गृहस्थ में रहने वाले लोगों के लिए सहसों बातें सुनने की होती हैं सहसों करने की होती हैं सहसों बातें सोचने की होती हैं उनकी ये दिन उनका जो दिन है वो तो अर्थ की चिंता में व्यतीत हो जाता है रात्रि उनकी सोने में व्यतीत हो जाती है, है? और ये देखते हैं ये स्त्री पुत्र बाल बच्चे सब ये संसार जो है अनित्य है परंतु तो उनमें से आसक्ति नहीं निकलती ऐसाम प्रमत्व निर्णम पक्ष निर्णय इसलिए राजन जिस भगवान की माया से ये मोहित हो रहा है इससे मालूम होता है कि ये किसी भी माया से मोहित हम जानते हैं ये संसार अनित्य है झूठा है स्वप्न के समान है ऐसा बुद्धि निश्चय कर लेती है फिर उसी में फंसी रहती है तो ये क्या बात है जान करके भी और फिर भी मोह ममता नहीं घटती है कभी हम मोदी नगर जाते हैं तो मोदी जी बार बार ये कहते महाराज ये पता है सब हम उसको छोड़ के जाने वाले ये रह जाएगी परंतु तो एक एक वस्तु में ये छूटेगी ये रह हाँ, हम इसको छोड़ेंगे पर एक एक वस्तु में ममता नहीं रखती नहीं सकती जानते हुए जिससे हमारा थोड़े दिन के बाद कोई संबंध नहीं रहेगा फिर भी इसमें ममता मोह आसक्ति बनी हुई है इससे क्या मालूम है कि भगवान की माया से जीव मोहित है तो जिसकी माया से मोह है उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए हाँ, तस्मा भारत सर्वात्मा भगवान हरीश्वरा श्रोतव्य ईर्तव्य से स्मर्तव्य से इच्छता जिसकी माया से मोहित हो रहा है उस परमात्मा की शरण ग्रहण करनी चाहिए एकतावान शांति योगाभ्याम स्वधर्म कर्म निष्ठया लाभा पर इंसान अंत नारायण स्मृति क्या करना चाहिए परीक्षित ने ये जो प्रश्न किया ना कि समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए तो सुखदेव जी उसको कह रहे हैं अरे मरणासन व्यक्ति को करना चाहिए कि तो भगवान का स्मरण करना चाहिए हम्म। सांख्य शास्त्र कोई जीवन भर सांख्य शास्त्र का अभ्यास करे धर्मशास्त्र का अभ्यास करे अपने धर्म का पालन करे इन सब साधनों का फल क्या है बोले अंते नारायण स्मृति अंत में भगवान का स्मरण हो ये सब साधनों का फल है ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि मरने के समय भगवान का नाम मुख से निकले भगवान का स्मरण हो ये अंते नारायण स्मृति जन्म लावा पर पुंसाम अंते नारायण अंत में नारायण का स्मरण हो ये सब साधनों का फल है ध्यान मनोरायण निवृत्ता विदुषीता नैर्गुणतारमन के स्मरण नाम को कहते हैं कि जो विधि निषेध को पार कर गए निर्गुण भगवान के निर्गुण स्वरूप में जिनकी निष्ठा है वो भी भगवान के गुणगान करते रहते हैं ये भागवत नाम का जो पुराण है ये सुखदेव जी कहते हैं हमने अपने पिताजी से इसको पढ़ा यद्यपि निर्गुण भगवान के निर्गुण स्वरूप में हमारी पूर्ण निष्ठा है परंतु भगवान के गुणों से आकर्षित होकर हमने श्रीमद भागवत को अपने पिताजी से पढ़ा तो श्रीमद भागवत को हम तुम्हें सुनाएंगे <coughs> ये सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित क्यों तुम भगवान के परम भक्त हो तदहम से महापौर महापौरिष्ठु भगवान <coughs> जिस श्रीमद भागवत के सुनने से भगवान के चरणों में प्रीति का उदय होता है बोलो सब सब लोगों के लिए एक ही वस्तु एक औषधि है कोई कोई ऐसे सिद्ध महात्मा होते हैं कोई लोग याद है सबको एक औषधि देते हैं सबको लाभ होता है तो कहते चार प्रकार के व्यक्ति होते हैं एक तो विरक्त और एक सरक्त ये संसार की वासना जिनको हैं एक संसार की वासनाओं से मुक्त हैं और एक मुक्त हैं और एक जीवन मुक्त हैं ऐसे चार कोटि के जो व्यक्ति हैं उन सबके लिए क्या एक साधन है कि हरे नामान कीर्तनम बल भगवान नाम का कीर्तन करो भगवान का नाम लो प्रेम से ये सबके लिए ही साधन मुमुक्ष की जो मुमुक्ष है वो भगवान नाम का आश्रय लेगा उसको मोक्ष मिलेगी जीवन मुक्त पुरुष भगवान नाम का आश्रय लेगा तो जीवन मुक्ति में दृढ़ता है और विरक्त पुरुष भगवान नाम का आश्रय लेगा तो वैराग्य की वृद्धि होगी और जो संसार का वैभव चाहता है तो कैसे नहीं मिलेगा भगवान नाम का आश्रय लेने किसी व्यक्ति को हजार वर्ष की आयु मिल जाए और प्रमाद में व्यतीत हो तो क्या लाभ है रूप तम विदितम घटे तस्वीर थोड़ी भी आयु हो और साफ विचार पूर्वक व्यतीत की जाए हाँ, तो क्या कहना है वरम मुहूर्तम विदितम घटेत श्रेय श्रेय हजार वर्ष की आयु हो जाए मिल जाए सौ वर्ष की आयु मिले पर उस प्रमाद में व्यतीत हो वो व्यर्थ है थोड़ी सी आयु भी विचार पूर्वक व्यतीत की जाए वो पर्याप्त सुखदेव जी कहते हैं कि देखो खटकावा नाम के एक राजा हुए हैं उन्होंने एक मुहूर्त इतनी सर्वस्व भगवान के चरणों में अर्पण करके अभय पद को प्राप्त कर दिया अभी तुम्हारी तो सात दिन की का जीवन है तुम सब कुछ अपने कल्याण के लिए कर सकते हो सुखदेव जी ने कहा जब कोई व्यक्ति ये समझे तो मेरा अंतिम समय है तो आ, अपनी मोह ममता घर में से हटा करके और एकांत में चला जाए ग्रहा प्रब्रज को दीरा और पुण्य तीर्थ में जाकर के एकांत में बैठ करके आसन से और भगवान के नाम का जप कर अब दशेर मनसा शुद्धम त्रिवत ब्रह्माक्षरम ओंकार का जप कर संसार से मन अपना हटा दे भगवान के एक एक अवर का स्थान कर पता किंचन स्मरे संसार से मन हटा करके भगवान के चरणों में लगाता जा जिस जिस अंग का ठीक ठीक ध्यान होने लगे फिर आगे बढ़ता जाए और जो भगवान का ठीक ध्यान करने लग जाए ध्यान होने लगे तो कुछ भी स्मरण करे तथा कुंचन न स्मरे रजस्तम ध्यान आपसे तम केंद्रीय भगवान के रूप में अपने मन को स्थिर कर अरे और कुछ नहीं ये सारा जो विश्व है ये भगवान का विराट है विराट भगवान का ही स्वरूप तो है और क्या है ये सारे जगत के रूप में भगवान है भगवान का ही अगर अवयव के रूप में इनका चिंतन करें महाकलम विश्व कला कलम गई पुरुष से जंगे सुखदेव जी कहते हैं देखो अयम तस् स्थूल तस् पाद पाताल पाताल क्या है सेठ जी कहते हैं अमरीका वाले कहते हैं हम पाताल में रहते पाताल क्यों भगवान का तलवा है और एड़िया और पंजे वो रसातल है और एड़ी की ऊपर की जो गांठें हैं वो महातल है और जंगा जो है पिंडली वो तलातल है और दोनों घुटने जो हैं वो सुतल और अतल है विकलम उद्वयम जघनम कलम नाभिर निवस्थलम उरस्थलम स्वर्ग वो भगवान का वस्थल है ग्रीवा महर लोक है वगन जो है जनलोक है मस्तक जो है तपलोक है और ब्रह्मलोक जो है सत्यलोक भगवान का शिव है इंद्र आदि देवता भगवान की बाहु है कर्णादि के निशान ये वेद शिव है यमराज दृष्टा है ये भगवान को जरा की पावर अच्छा ये पक्षी क्या है कि भगवान की अद्भुत रचना है भगवान ये पक्षी जो है ये भगवान की एक अद्भुत रचना है इनको तो देखो कैसे कैसे पक्षी कैसे कैसे उनके बोलियां कैसे कैसे उनके रंग शिल्पनैपुणम पक्षिण ब्राह्मण उनका मुख है क्षत्रिय भुजा है वैश्य गुरु गुरु वैश्य है पालऊ शूद्रा <coughs> इस तरह से कहते हैं ये सारा विश्व भगवान पर ये अवयम भगवान के अवयवों के रूप में इनका चिंतन करो विश्व का इसमें मन को स्थिर करो ससर्ग विवृत्यम भूत सर्ग आत्मा यथा स्वप्न जनेक्षित तम आनंद निधि भजे तो नान्य प्रसजेत यथ आत्मपात ससर्वधीत्यनुभूत सर्व वो परमात्मा ही सबकी बुद्धि के द्वारा सबका अनुभव कर रहा है जैसे स्वप्न में हम स्वप्न में जो हम संसार को देखते हैं सहसों की संख्या में स्त्री पुरुषों को देखते हैं तो वो क्या है वो लोग उनकी बुद्धि आगे अलग नहीं है उनकी बुद्धि के द्वारा तुम ही सब का अनुभव कर रहे हो तुमसे भिन्न वहां कोई नहीं है इसी तरह से यहां इस समय भी जागृत में भी ये तुम्हारा ही पसारा है तुम्हारा ही दृश्य है तम सत्यमानंद दिन बजे तो नान्य प्रसजे की उसी परमात्मा में अपनी आत्मा में उनको स्थित करो देखो इस प्रकार से इसी धारणा के द्वारा ब्रह्मा जी ने अपनी नष्ट हुई स्मृति को प्राप्त किया सुखदेव जी कहते हैं राजन देखो जब व्यक्ति कोई साधक स्वर्ग आदि की महिमा को जब सुनता है तो मन ललचने लगता विविध नाम वाले पदार्थों की ओर उसका मन जाने लगता स्वर्गाधिर नावी तत्त इच्छा करो और इस स्वर्ग में ऐसे दिव्य महल होते हैं दिव्य वस्त्र होते हैं दिव्य सराय होती है पर कहते हैं कि वहां तत्तर लोक में चला भी जाए पर मोक्ष सुख तो नहीं मिलता उसको अतः कबीर इसीलिए अतः कबीर नाम सुझाव था और ज्यादा प्रमत्व व्यवसाय होती इसलिए विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही संबंध करे जितने से काम चल जा रहा है ज्यादा संग्रह करके क्या करेगा सत्याम क्षितौतिम कशुको प्रयास अच्छा जब पृथ्वी पर लेट करके हमारा काम चल सकता है तो क्यों ये पलंग वलंग क्यों क्यों इनके लिए क्यों परिश्रम करते बाहु सुसिद्धे उपकरण किम जब आप का तकिया भगवान ने दिया है अरे आवश्यकता वो हाथ लगा लो सिर के नीचे तो कतियाओं को क्यों लिए देते सत्यन जल किम उधाम न पात्र अरे जल पीने के लिए अंजलि बना के जल पी सकते हैं अनेक प्रकार के पात्र क्यों संग्रह करते हैं जिक्र कल सलारू सत्यू पूरे और वलकल वस्त्र जब है संसार तो में तो क्यों अनेक प्रकार के वस्त्रों का संग्रह करते चीरा में किन पतन संघ के संघ वृक्षा या गली कूचे में तुमको चीर पड़े हुए नहीं मिलते पहले ऐसे चाली थी कोई नया वस्त्र पहनता था तो उसमें से नए वस्त्र में फाड़ के थोड़ा डाल देते अरे कोई साधु संघ ले जाएगा अपनी बिगड़ी बनाएगा उस समय की बात है और कहाँ चीजें मिलती हैं चीरान किम पथिन तंत दुषंत भिक्षाम नहीं दान होता क्या वृक्ष आपको भिक्षा देना उन्होंने बंद कर दिया है क्या नदियां सूख गई हैं क्या तुम्हारे रहने के लिए गुफा नहीं हुए और क्या शरण में आए हुए की भगवान क्या नहीं बनता फिर क्यों किसी के दास बने हुए हो क्यों इन धनकों की उपासना करते कोई कोई पुरुष महापुरुष अपने हृदय में प्रादेश मात्र छोटे से भगवान का ध्यान करते <coughs> चतुर्भुजन चार दिन की भुजाएं हैं प्रसन्न जिनका बदन कमल के समान लिखते हैं पीताम्बरकारी सिर पर मुकुट कानों में कुंडल इस तरह से भगवान का ध्यान करते और सुखदेव जी बताते हैं राजन अगर कोई महात्मा सन्यासी यदि यतिर यदा इमं देहम तक तुम इच्छति जब इस शरीर को त्याग करना चाहे तो किसी देश काल में अपने मन को आसक्त न होने दे और प्राणों का के ऊपर विजय प्राप्त करे क्षेत्र में मन को स्थापित करके क्षेत्रज्ञ मनोबुद्धिया नियम में बुद्धि के द्वारा मन को क्षेत्रज्ञ में स्थित करें और क्षेत्रज्ञ तो शुद्ध आत्मा ने और उसको फिर आत्मा में स्थिर करके आत्मैव अहम नित्य प्राप्त शांति और मैं स्वयं नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप में आत्मा हूं ऐसा निश्चय करके और कृत्यात्मे सबसे विराम दे परम पदम वैष्णव परम हृदयात्मा मनुष्य को परम शरीर के त्याग की विधि बताते हैं वो परमात्मा अपने तेजी से गुला के द्वार को रोक करके नाभि आदित्य द्वार नाभि में स्थित जो जिसको मणिपुर चक्र कहते हैं वहां स्थित जो प्राण है उसको ऊपर उठा रहे अनाहत चक्र में ला रहे फिर विशुद्ध चक्र में ले जाकर के फिर अपने तालू के मूल में ले जा फिर दोनों भी भावों के बीच में ले जाए उस वायु को और फिर ब्रह्म रंध्र में ले जाकर के निर्भित देहम विसर्जे ब्रह्मरंध्र को तोड़ करके वहां तो वो करके निकल जाए उस तो महात्मा की सद्य मुक्ति होती है तत्काल मुक्त हो जाए और जो महात्मा ये चाहे कि चलो इन लोगों को देखते हुए जाएंगे आगे ऊपर जो लोग हैं चलो इनमें भी होते हुए इनको भी देखने कैसे अगर किसी की इच्छा हो तो फिर उसको क्या चाहिए यदि पारमेष्ठ्याद पदानी गंतुम इच्छति तभी तब उसको मन और इंद्रियों को साथ लेकर के तब तक लोगों के भोगों को भोग भोग के लिए जाना चाहिए क्योंकि इंद्रिय और मन को जब साथ ले जाएगा तभी तो भोग सिद्ध होंगे योगियों की गति त्रिलोकी के अंतर भी है बाहर भी योगी जो है सुषमना नारी के द्वारा पहले ब्रह्म हाँ, ब्रह्मलोक को जब जाता है तब पहले वो अग्निलोक में जाता है फिर सुषमा चक्र में जाता है तो उस का को छोड़ करके फिर महरलोक में जाता है और फिर महरलोक भी जब भगवान शेष की मुखालन से दर्द होने लगता है तो उसे छोड़ करके ब्रह्मलोक चला